किसी साधन है इसी की तरह उनको भी सत्य करे तो एक हो और फिर दूसरे परमात्मा का भी स्मरण करे चिंतन करे जिससे कि धीरे धीरे परमात्मा का ज्ञान हृदय में हो परमात्मा का स्मरण करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान हृदय में और जगत का स्मरण करते रहेंगे तो जगत ही हृदय में छाया रहेगा वो परमात्मा को आच्छादित रखते हैं इसलिए विचारवान व्यक्ति जगत का चिंतन ज्यादा नहीं करते जगत के व्यवहार करते हुए भी जगत की उपेक्षा रहे प्रतिभा की तरफ से ध्यान हटाए रखते बस ऐसे करके समझ लिया कि जैसे स्वप्न लीला चल रही है या नाटक चल रहा है उस प्रकार से क्षणिक समझ कर ली स्मरण रखा आत्मा का परमात्मा का उसी का स्मरण रखते हैं तो परमात्मा का स्मरण रखने से परमात्मा धीरे धीरे करके हृदय में प्रकट होता है हटहट बस संशय कर रही मैंने जैसी ऊपर की प्रबलता जैसे बताई पंक्तियों में जिन लोगों में है वे लोग जो है भगवान में संशय करते हैं और संशय करते हैं सो भी हट रखते हैं संशय होगा कि भगवान ऐसे नहीं ऐसे उनमें दोष देखेंगे और फिर उसी को जबरदस्ती करेंगे तुम कुछ भी कहो है तो ऐसे क्या करें जैसे शास्त्रों में पता गया भगवान को अज्ञान में अरे हमने देख लिया सब रामायण में लिखा हुआ सब जगह लिखा हुआ है तो भगवान सीतारण हो गया तो फिर रोने देख लिया कैसे भगवान समझ गए कैसे हैं अब वो कई कई तो संप्रदाय ऐसे हो गए जो अवतारवाद के सिद्धांत को नहीं मानते वे तो भगवान के अवतार के ही तमाम दोष गिने रहेंगे याद रखेंगे भगवान की और समस्त लीलाएं नहीं छाट करके जहाँ उनको समझ आएगी तो उनके अवतार में ये ये दोष है बस उन्हीं की लिस्ट बनाए गए अरे क्या अवतार है अरे क्या अवतार है बड़े भगवान बने फिरते थे तारका जी की स्त्री को मार दिया बड़े भगवान बने फिरते थे देखो रोते इस प्रताप से और ऐसे करके कुछ न कुछ अगर बोलेंगे बड़े भगवान बने फिरते थे सीता का त्याग कर दिया ऐसे कोई भगवान होते हैं कृष्ण कोई भगवान होते अरे कहो कि देखो रामचरित मानस सुनो पढ़ो क्या रहस्य है क्या बातें हैं उसके शब्द को समझो क्या पढ़े ऐसी पुस्तक को <clears throat> ऐसे ही गीता पढ़ने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि हमने कितनी बार गीता पढ़ने की कोशिश की लेकिन पहले अभ्यास के बाद दूसरा अभ्यास शुरू नहीं कर पाते क्या होता है कि जब पहला अभ्यास करते हैं तो अर्जुन को देखते हैं अर्जुन कितना ठीक कह रहा था कि दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं अर्जुन तथा सब भाई बंधु अपने खड़े युद्ध होगा तो सब मारे गए और उसके बाद भगवान उसकी विपरीत बुद्धि करने लगती है अर्जुन को सब ध्वज गुस्सा आ जाती है कहते हैं चाहिए था भगवान को अर्जुन से कहते कि अर्जुन तुम्हारे में सब बुद्धि आ गई तो बहुत अच्छा हुआ अभी क्या हुआ अभी तो लड़ाई थोड़ी हुई शुरू होने जा रही है लड़ाई अभी बंद कर दो ज्यादा ज्यादा होगा तो तुम तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा और क्या है आपने जैसे कैसे जीवन काट लिया ना इससे लोगों को मारने से क्या हाँ? हम बिल्कुल ठीक कहते हैं भिक्षावान चला लेंगे हम भी कहते ये कि भिक्षावान करके अपने जीवन चला लेना वो अच्छा होगा इतना युद्ध करना इतने लोगों को मारना ठीक नहीं होगा अगर भगवान ऐसे कह दी तो फिर तो समझ में आता भगवान है लेकिन अर्जुन को भगवान ने उल्टी बुद्धि उसकी कर दी तो अर्जुन से भी ज्यादा खराब बुद्धि अर्जुन तो फिर भी ठीक है ताकि जहाँ हमारी बुद्धि में ये बात आती तो आगे गीता पढ़ने का मन ही नहीं होता क्या पढ़ा इनकी फिल्म की बात उनके सीधी बात पढ़ाते हैं अब जिनके चित्र में ऐसा चल गया क्या उनके बहुत लोग बात कहते हैं गीता बहुत अच्छा अपनी धर्म ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध है संसार में सभी लोग गीता पढ़ते हैं दूसरे दूसरे जाति के लोग बात उन्हें गीता की बड़ा आदर सत्कार करने लगे हैं तो हम सोचते हैं बातें पढ़े जब शुरू करते हैं तो वही समस्या करा जाती है तो कभी भाग कर देते हैं तो ये क्या है ये कहते हैं कि देश तक हटकर से संचय कर रही है उनकी बुद्धि हट करती रहती है वो समय नहीं पाती परमात्मा का हाथ प्रकार देश से संचय कर रही है और निज अज्ञान राम पर भर ही है अपना अज्ञान तो दूर करने की कोशिश नहीं करते उधर ध्यान नहीं देते भगवान पर अज्ञान आरोपित करते हैं तो काम क्रोध मत लोभ रख ग्रह सत्य स्वरूप अब जैसे तो ये बताते हैं कि ऐसे लोग जैसे ये पहले बताया था दे मत मरे में विषय बस काम ही हाँ, तो ऐसे ही कहते हैं जो काम क्रोध मत लोभ रख ये सब विकार विकार है मानसिक विकार काम क्रोध मद लोभ इनमें व्यक्ति जो रथ है सकते और गृह कार्यो में आ सकते हैं परिवार में आ सकते हैं परिवार के कार्यों में आ सकते हैं धन संपत्ति आदि में आ सकते हैं उसी में लिप्त हैं हाँ, सूबे हुए हैं गले तक नाक तक उसी में पड़े हुए हैं तो कहते हैं सुख रूप और उनका जीवन तमाम दुखों में फसा हुआ पड़े हुए हैं दुख रूप अलग कर लो चाहे उसके साथ लगा लो जो आसक्त दुख रूप ग्रह की आसक्त स्वयं दुख रूप है तो भी उनको उसमें दुख नहीं लगता उसको सुख माने हुए उसमें पड़े हुए हैं तो ये विपरीत बुद्धि नहीं क्या आसक्ति है वो वो दुख रूप है शास्त्र तो ये कहते हैं लेकिन कहते वाह क्या आनंद है देखो उसमें दुख उनको समझ ही नहीं आता उसमें क्षीण सुख लग रहा है तो जिनकी ऐसी विपरीत बुद्धि होगी उनको क्या दिखाई देगा उनको तो भगवान ने तो उनके दोष दिखाई देगा देश में जा नहीं रघुपत ही मूल परे समकूप वे भला भगवान को क्या समझे ऐसे मूल लोग अज्ञान के कुएं में पड़े हुए अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं उनको भगवान का रहस्य समझ नहीं आता परमात्मा क्या है जगत क्या है जीव क्या है क्या है हमारी ये सब बातें उनकी समझ में नहीं आती इसके मैंने परमात्मा को समझने के पहले इनसे छुटकारा पा गए काम क्रोध मध लोग ये सब आसक्तियां जो है संसार की उन आसक्तियों से छुटकारा पा गए ये सब इनसे जब छुटकारा पाए तब फिर तो वो परमात्मा को समझने का अधिकारी हो सब कुछ जाने की परमात्मा रूप में क्या है फिर कहती निर्गुण रूप सुलभ रहती सगुण जान नहीं कोई तो एक बड़ा विचित्र विभाग है वैसे संसार में इसके उल्टा प्रसिद्ध है कहते हैं यहाँ प्रताप कृष्ण जी कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ रहती भगवान निर्गुण भी है सगुण भी है लेकिन भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है वो तो बड़ा सुलभ है हर कोई जान सकता है उसमें कोई बात नहीं लेकिन सगुण जान नहीं ये भगवान के सगुण रूप को कोई नहीं समझ सकता बहुत मुश्किल है सुगम आगम नाना चरित्र और सुन मुनि मन भ्रम हो ये भगवान के जो चरित्र हैं दो प्रकार के चरित्र भगवान करते हैं कुछ तो सुगम है जो उनके चरित्रों को समझ नहीं सकते हैं कुछ लोग और कुछ भगवान के अगम चरित्र हैं जिनको तो समझा जा नहीं सकता बहुत मुश्किल है उनको समझना तो पहले जो दो प्रकार की बात हुई भगवान के दो रूप हुए निर्गुण रूप भगवान का सुगम और सगुण रूप दुर्गम और सुगम रूप जो सगुण रूप भगवान का है वो भी दो प्रकार का कुछ लीलाएं उनकी इस प्रकार की हैं जो आसानी से समझी जा सकती हैं और कुछ ऐसी जिनको समझना बहुत मुश्किल है अब ये निर्गुण रूप सुगम ये सुगम क्यों है सुगम क्यों है ये निर्गुण तो ये कहते हैं निर्गुण को समझने के लिए कि परमात्मा आकाश की तरह व्यापक सर्वत्र है सच्चिदानंद स्वरूप है समस्त जगत उसी में स्थित है इसमें समझने में कौन देख सकते हैं बड़ी आसान बात समझ लो उसको परमात्मा सर्वत्र जाती है तो उदाहरण ही देखिए माने आकाश जैसे सर्वत्र जाती है वैसे परमात्मा भी सर्वत्र जाती है जैसे आकाश अखंड अनंत है इसी प्रकार परमात्मा भी है आकाश जड़ है परमात्मा चेतन है तो चेतना तो समझिए इसके स्थान में आकाश के स्थान में सर्वत्र चैतन्य विद्यमान है वही चैतन्य हमारे अंदर आपके अंदर सबके अंदर विद्यमान है जान गए निर्गुण ब्रह्म को बस ये निर्गुण ब्रह्म इसको समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है <clears throat> जहाँ उसमें थोड़ा सा बात देखिए उसको भ्रम नहीं होगा समझेंगे कि ऐसा भ्रम है कहा ठीक है ऐसा भ्रम हो सकता है इसमें कोई चिंता की बात नहीं लेकिन जब वो परमात्मा तब अपनी से शुरू होगी कठिनाई आते अवतार लेता है परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है सर्वत्र विद्यमान है वो क्यों अवतार लेगा वो कैसे अवतार लेगा जब सब जगह है ही है तो अवतार कैसे लेगा अगर ये कहो कि नहीं नहीं संसार के कल्याण के लिए धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता अरे धर्म की रक्षा तो वैसे कर सकता है जब इतने अपने संकल्प से इतनी जगत की रचना कर देता है तो वे अपने संकल्प कर ले कि संसार में सब जगह धर्म की स्थापना हो जाए कहा सोचेगा सब जगह हो जाए धर्म की स्थापना कहा अधर्म रह जाए संसार उसके संकल्प करने भर की जरूरत है उसको अवतार नहीं किए अवतार ले शरीर धारण करे नाना प्रकार के कष्ट था क्या जरूरत ऐसे कर सकता अब वहीं से वहीं से अटकना हो गई बुद्धि अटकने लगी वहीं से अब कैसे अवतार ले वही मुश्किल पड़ गया अवतार लेंगे तो फिर दो प्रकार की समस्या अवतार लेंगे तो कुछ चरित्र तो भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण होते हैं और कुछ जो होते हैं भगवान के माधुरी रूप चरित्र होते हैं तो ऐश्वर्य चरित्र जहाँ दिखाई दे कि जहाँ दिखाई दे कि तो अवतार लिया है अवतार लेकर के ऐसा कार्य कर दिया कि जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते हजार दो हजार दस बीस हजार मिल जाए बल्कि तो भी वैसा कार्य नहीं कर सकते और अगर उसने वैसा कार्य कर दिया तो तो कहते हाँ भगवान ने उतार लिया सुगंध लीला हो गई समझना मुश्किल काम नहीं हो गया एक गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए एक आदमी को उठावे तो उठावे क्या गांव भर लग जाए तो गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकता तो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत एक नहीं उठा लिया हाँ, हाँ भगवान है भगवान है बहुत अच्छी बात है उसमें समझना कुछ मुश्किल बात नहीं जमीन इतनी शक्ति है तो भगवान होंगे ही होंगे लेकिन जब भगवान की माधुरी लीलाएं होती है तब तो समझना मुश्किल पड़ता है ये हम्म? ऐसा परम परमात्मा होगा क्यों क्यों रोवे है पापड़ा हुआ झूले के ऊपर रोवे ये कैसे कौशल्या मान लेकर के छाती से लगाओ तो ऐसे चिपट गए जैसे कि बहुत प्रेम हो उनको ऐसे कैसे करेगा अब वहां पर जो माधुरी लीलाएं हैं वो बड़ी दुर्गम प्रिय लगती हैं सुंदर लगती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा विमोह उत्पन्न करने वाली व्यक्ति को बड़े बड़े ज्ञानी मुनि लोग जो बुद्धिमान भी वो कहेंगे कि परमात्मा ऐसे नहीं कर सकता सीतारण रोने लगे ऐसा नहीं कर सकता भाइयों के साथ में इतना प्रेम दिखावे इस प्रकार से बाल लीलाएं इत्यादि इस प्रकार से करे ये सब ऐसा कार्य इतने माधुर्य के जितने भी कार्य है वो सब देखते हैं वो सब उत्पन्न करने वाले तो कहते हैं सुगम अगम नाना चरित सुनी मन मन भ्रम हो मुनियों के मन में भी भ्रम होता है उसको सुन करके सुन सजेश रघुपति प्रभुताई कहा कथा सुहाई देवी विमोहयो प्रभु सो सब कथा सुनाऊ कोई राम कृपा भाजन तुम गुण प्रीत मोहि सुखदाता ताते नहीं सच तुम्हें दुरावम परम रहस्य मनोहर गावम सुनम राम कर सहज सुभाऊ जन अभिमान न संस्कृत मूल शूल प्रगनाना सकल शोक दायक अभिमाना ताते करें कृपा निदूरी परम मतायति भूरी जिन शिशु तन तन हो ही दुखाई माँ पितिराव कठिन देना यद्यपि प्रथम दुःखपा वैरो वै बालयधीर व्याधिना सहित जननी जनति न सो शिशुपीर रघुपति निज दास कर हरि मान हित लागे

भगवान के निर्गुण रूप का वर्णन हो गया सब रूप का वर्णन हो गया और भगवान में लोगों को जो मोह होता है क्यों होता है उसका भी वर्णन हो गया इस प्रकार से ये उसी में ये भी संकेत मिल गया कि कैसे व्यक्ति का मोह दूर हो सकता है और उसे क्या करना चाहिए ये भी बातें हो गई बीच बीच में अब ये बताते हैं काभूषण जी कि हमको मोह कैसे हो गया है तो वो हम बात आपको बताते हैं और उस कथा में भी बहुत सी ज्ञान की बातें सोचते सोचें अभी देखते हैं कहते हैं कि देखो भगवान का एक स्वभाव अपना है उसे भी समझना चाहिए तो स्वभाव की बात भगवान के बताना आगे जा रहे हैं तो अपनी कथा भी उसके साथ जोड़ देते हैं और फिर भगवान का स्वभाव बताते हैं <clears throat> भगवान का स्वभाव चाहे निर्गुण समझो चाहे सभी समझो भगवान के भगवान उनके भगवान का स्वभाव कैसा है उसको भी समझना चाहिए ऐसे सुन खगे रघुपति प्रभुताई कहते हैं कि भगवान की महिमा कैसी क्या है वो हम तुमको बताते हैं सुनो और कहो कथा मत कथा सुहाई उनकी महिमा कैसी क्या है वो हम जैसे हमारी बुद्धि है वो हम तुमको सुनाते हैं बताते हैं तो यहाँ से प्रसंग बदलता है इसलिए कहते हैं कि सुखजे ऐसे करके फिर सावधान करते हैं और आदि कथा बोलते हैं कि जय विधि मोह भय प्रभु मोही हे प्रभु इनके लिए संबोधन है जरूर के लिए कि प्रभु जिस प्रकार से मुझे मोह हो गया मैं वो कथा सुनाता हूँ सो सब कथा सुना हूँ तो ही वो सब दूसरी कथा सुन लो इसका भी ये है कि जब दूसरे के व्यक्ति में मोह हो तो कैसे मोह हो जाता है वो व्यक्ति अपने मोह की कथा सुना करके भी उसको दूर करने का एक उपाय है तो <clears throat> कालभूषण को मोह हो गया था तो बताते हैं देखो मोह कैसे हुआ तो वो ऐसे ही करके जैसे हमको हो गया ऐसे अन्य लोगों को भी हो जाता है जिसको होता है इसी प्रकार से होता है तो कहते हैं यही जिन मोह भय प्रभु सो सब कथा सुनाओ को ही और मोह होता है तो होता है ये मोह दूर कैसे होता है वो भी कथा इसी साथ में आ जाती है तो राम कृपा भाजन तुम दाता हरिगुण तीर्थ मोह सुखदाता तुम तो भगवान की कृपा के पात्र हो भगवान ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की क्या कृपा की कि जो तुम्हारे मन में मोह पैदा हो गया यही भगवान की कृपा है जिसके कारण से फिर तुम्हारे लिए अब कभी तुमको मोह पुरुष के बाद अब नहीं होगा तो राम कृपा भाजन तुम्हें ताता हरिगुण प्रीत मोह सुखदाता भगवान के गुणों में तुम्हें प्रेम है और तुम हमें सुख देने वाले हो कालभूषण को जो है भगवान की ही कथाओं में बड़ा प्रेम है अब भगवान का जो लीला कालभूषण के साथ में हुई अब वो भी भगवान की कथा है अब उसमें उसको सुनने में गरुड़ को प्रीति है तो हरिगुण प्रीति के बने वो सुनते जाते बड़े मन लगा करके सुन रहे हैं तो जब कथा सुनने वाला बड़े प्रेम से उसे सुनता है तो सुनाने वाले को जो और सुनाने वाले को तो अच्छा लगता ही है भगवान की कथा सुना रहा तो, तो सुना रहा है और सुनने वाला भी उसमें अपनी इंटरेस्ट दिखा ले तो फिर सुनाने वाले को उसमें अच्छा लगता है सुख लगता है कि देखो सुनने वाले जो है बड़े सावधान होकर के सुन रहे हैं बड़े प्रेम के साथ सुन कर रहे हैं उत्साह के साथ सुन रहे हैं सुनने वाले भी दो प्रकार के होते हैं एक एक ऐसे बिल्कुल सपाट चेहरे वाले और दूसरे जिनके भी चेहरों पर कुछ भाव दिखाई देते हैं कथा सुनाई तो जैसे कि कैसे वैसे के वैसा चेहरा न कोई अंतर न कुछ हाँ, न हाथ न दिशा जैसे कि तैसे उनका चेहरा वैसे मूर्ख के समान बैठे हुए जैसे ध्यान में मत हो ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं कुछ पता नहीं क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही कुछ नहीं और दूसरे हुए कि भाई नाना प्रकार के रस कथा में आते हैं कहीं संज्ञा रस की भी आती है बातें कहीं हाथ रस की भी आती है कहीं वीर रस की बात आती है अब वीर रस की बात आ गए तो कोई देखे थोड़ा चौंकने लगे उचकने लगे तो मन में आवे कि हाँ कुछ कथा सुन रहा है है अगर कहीं हाथ रख की कथा आवे तो उसके मुंह पर कहीं हंसी दिखाई दे तो, तो समझो की कथा सुन रहा है चाहे जितने हाथ रख की कथा आवे उनको हंसी नहीं आई तो रस का संचार तो उनके हृदय में हुआ नहीं चाहे जितनी दीर रस की कथा आवे लेकिन सुनने वाले के मन में दीर रस का संचार हुआ ही नहीं तो उसने सुना क्या और सुनाने वाले को क्या इंटरेस्ट है तो हम्म? ऐसे तो कहीं भी दीवार कथा सामने बैठ कथा सुनाते हैं रखना दो दीवार के ऊपर भी ऐसे होगा न उसको आस होगा न विकास होगा इसलिए होगा क्या फायदा ऐसे तो लेकिन उनको देखा जब कालभूषण ने देखा कि जरूर जब कथा सुन रहे हैं तो उनके मन में बड़ा उत्साह दिखाई दिया बड़े प्रेम से सुन रहे हैं बीच बीच में उनसे पूछते भी जाते हैं फिर क्या हुआ कैसे हुआ ये सब पूछते भी उनके साथ हैं तो उनको लगता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छे सावधानी सुन रहे हैं तो उनको शुरू भी हो रहा है कालभूषण को ताते नहीं कछ मैं तो जुड़ाऊ कहते इसलिए अब हम तुमको कुछ छिपाते ही नहीं सब बता देते हैं परम राहत मनोहर गाँव भगवान का जो परम सुंदर रहते है वो सब हम तुमको बताते हैं शंकर जी ने भी कहा था ना तो पिछले दोहे में कि वो कमपी सज्जन करे प्रकाश ऐसे लोगों को पा करके जब कथा सुनने वाले ऐसे लोगों को पाते हैं तो फिर कथा सुनाने वाले भी राष्ट्र की बातें गंभीरतम बातें भी सुना देते हैं बता देते हैं लेकिन जब देखते हैं कि जब मोटी मोटी बातें नहीं सुन रहे हैं उसी भी नहीं समझ में आ रही उसी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो गंभीर बातें क्या सुनाई तो ये कहते साथे मैं कहते मैं बुरा हूँ तुमको बड़ी रुच देख रहे हैं इसलिए हम कुछ बात छिपाते नहीं है सब तुमको बताते परम रहस्य भगवान के बहुत रहस्य है माने वो भी बताते अभी तक जो बता रहे थे तो वो भी रहस्य था लेकिन अब तुम सुन लो जरा परम रहस्य की बात आगे बात आती है की बात तो ये है कि ये जगत ही इतना नहीं है परमात्मा भी है सच्चिदान स्वरूप ये तो राष्ट्र की बात है और ये समस्त जगत परमात्मा के उत्पन्न होकर के माया में है और माया भी जगत की रचना करती है और व्यक्ति को मोह में भी डालती है ये सब राष्ट्र की बातें हैं लेकिन परम राष्ट्र की बात ये है कि वो परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता है ये उससे है राष्ट्र की बात कहते हैं सुनो राम कर सहज सुभाऊ ये रात की बात है भगवान का स्वभाव सुनो कैसा है जन अभिमान राशि काऊ भगवान का ऐसा स्वभाव है कि अपने भक्ति का अभिमान नहीं रखते उसे अहंकार अभिमान हो तो उसे नहीं रखते दुनिया में लोग बाग जो सज्जन लोग होते हैं ये दूसरे के अभिमान पर चोट नहीं पहुंचाते बड़े सज्जन है नहीं पहुंचाते क्यों किसी को दुखी करें किसी का भी भान पर चोट करें कहीं किसी के दोष भी दिखाई देंगे तो उसे कहेंगे नहीं कि भाई तुम्हें ये दोष है सज्जनता के कारण उसके दोष बोल देंगे तो बेचारे को दुख होगा उसके अभिमान को चोट लगेगी इसलिए अपने आप को दुख लेकिन भगवान जो हिम्मती है कैसे हिम्मती ये भगवान का स्वभाव है हम्म? देखो वो जहाँ देखते हैं कि किसी को इस प्रकार से स्थिति में अपने भक्त में दोष दिखाई दिया और सब दोषों की जहाँ अभिमान है अहंकार है कि वो जहाँ भक्तों ने भगवान ने देखा तो बस उसको दूर करने की कोशिश करने लगते हैं जन अभिमान न राखे का कभी भी भक्त का अभिमान अभिमान नहीं रखते निराभिमान रखते उसको अभिमान से मुक्त तो संसद मूल अभिमान के ऐसा भगवान को अभिमान से क्यों दुश्मनी है तो कहते बस इतनी की बात ही है देह जो परमात्मा है जैसे सूर्य को अंधकार से दुश्मनी हम्म? तो वैसे ही भगवान को जो है इस से दुश्मनी है ये अभिमान के माने अहंकार हुआ अहंकार क्या है ये अहंकार जहाँ परमात्मा का ज्ञान नहीं परमात्मा नहीं वही अहंकार है अहंकार अज्ञान है जो अज्ञान अविद्या है उसी का नाम अहंकार है जो अहंकार है वही संसार है वही मोह है वही धन है वही संशय है वही समस्त दुखों की जड़ है ये पहचान लेना चाहिए माने वेदांत की दृष्टि है वेदांत की दृष्टि के माने जहाँ अपना आत्म स्वरूप आच्छादित हो गया तो अपने आत्मा के स्थान पर जो इंडिविजुअल आईनेस है वो अनुभूत में आने लगती है वैयक्तिक मैं अपने अंदर अपने हृदय में अनुभव में आता है और मुझे यज्ञ की भ्रांति है इस प्रकार का आम जैसी कोई सत्ता नहीं है ये केवल चिदाघात मात्र है प्रतीति मात्र है माया में है लेकिन व्यक्ति इसी को सत्य समझता है जब अहंकार को सत्य समझता है तो इसी का नाम अविद्या है इसी का नाम अज्ञान है और जब ये अहंकार व्यक्ति को होता है तो देहाभिमान इत्यादि होता है और जगह जगह आसक्तियां इत्यादि होती है मैं मेरा इसी से प्रारंभ हो जाता है तो सारा संसार जाल जितना चाहिए अहंकार की ही जल से फैलता है सभी इसलिए सारी समस्याएं जितनी जीव की हैं इसी अहंकार से प्रारंभ हो जाती है तो अब भगवान क्या किसी अपने भक्त को संसार में थोड़ी डाले रखना चाहते हैं अपने भक्त को सारे दुखों क्लेशों में थोड़ी पड़े रखना चाहते हैं उसका चाहते हैं कि भक्त आनंद में रहे उसके सारे दुख क्लेश दूर रहे तो उन दुख क्लेशों को दूर करने के लिए भगवान उपाय क्या करते हैं कि उसका जो भक्त का जो अहंकार वो भी उसका प्रण है उसका थोड़ा उत्पन्न हो गया है उसका उसको भगवान चीरते हैं उसको ऑपरेशन करते हैं तो भगवान को अहंकार के ऊपर चोट करते हैं ये काम भगवान का तो कहते हैं सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राशि गाओ संसद मूल अब देखो सब बता दिया ये संसद का मूल है संसद ना संसार संसार में राजदेशात्मक जो प्रवृत्तियां हैं मैं और मेरा तेरा इत्यादि है वही संसार में शंकराचार्य का परिभाषा किया हुआ है कि जैसे स्वप्न है उसी प्रकार के जीव की रचना संसार है तो संसद मूल और सूल प्रद नाना सूल प्रद नाना प्रकार की क्रियाएं एक स्थिति में जब तक व्यक्ति संसार में पड़ा हुआ है तब तक तरह तरह की भय चिंता के लिए सारी उन सबसे ग्रसित भी रहता है और सकल शोकदायक अभिमान मन ये अभिमान ये सब प्रकार के व्यक्ति को दुख देने वाला है शोकदायक है ना दुखी दुख किसमें है अहंकार में कोई सुख की बात नहीं है लेकिन अज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार को बड़ा सुरक्षित रखना चाहता है बहुत सुरक्षित रखे अगर उसके अहंकार पर कोई चोट पहुंचाता है तो बस दुश्मन ही है हाँ, बाढ़ डालने को तैयार हो जाए कुछ तो तरह लेकिन अपना अहंकार नहीं मरना चाहिए वो स्वस्थ रहना चाहिए इस बात को ऊपर अज्ञानी व्यक्ति काबू रहता है अब ऐसे अभिमान को कुछ छेड़ना कोई साधारण बात नहीं है बड़ी हिम्मत से हो इसलिए दो की तुलना की जाती है जैसे अयोध्या वासियों ने कहा कि हे तो रहित जग को पुकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी संसार में दो ही हेतु रहित उपकार करने वाले हैं ये तो भगवान है ये भगवान के भक्त हैं भगवान के भक्तों के अंतर्गत सत्संग समझ लो गुरु को भी समझ लो उसी के अंदर समझ लो तो इस प्रकार की हिम्मत के अभिमान के ऊपर कोई आघात करे या तो भगवान कर सकते हैं या कोई दूसरा कर सकता है तो गुरु नहीं कर सकता इतनी हिम्मत वही करेगा नहीं तो बाकी लोग तो जो है वो डर के मारे किसी के अहंकार को चोट जरा के पहुंच के जरा सा धक्का भी लग गया ये सोचेंगे ऐसा ना हो कि इसका शरीर छू गया छू जाए तो शरीर को गोली सोच नहीं सकता यहाँ से करीब नहीं लगे हमको इसलिए शरीर ने छू जाए इसका आदमी ने छू जाए कहीं इसकी चीज में छू दे उसको जहाँ सीधे था छू दी तो ऐसा में नाराज हो जाए कि तुमने क्यों छू दिया तो हर बात बात में डरा करे कि दूसरे के अहंकार से कि अहंकार में कहीं आघात में लगे उसको बचाए रखेगा बचाए रखेगा दुनिया में भला कौन इस अहंकार को मिटाने के लिए सहायता करेगा कौन कहेगा कि भाई अहंकार इसको मिटा दो कहेगा भी नहीं कोई जब कहेंगे जैसे तुमको अहंकार हो गया इसको ऐसा अहंकार नहीं होना हाँ सही था समझ हो गया अब वो अहंकार और चलना हो जाएगा खाओ सुनो तो वो अहंकार को अपने के नहीं तो अब भाई कौन झगड़े में पड़े कौन इतनी हिम्मत करे इतना शक्तिशाली दुनिया में कौन है जिस प्रकार से अहंकार कम खाम खाम में पड़े और दूसरे के अहंकार को दूर करता करे तो कहते हैं भगवान इस प्रकार के हैं जिस प्रकार की हिम्मत मानते हो कार्य करते और नारद के साथ उनको कथा नारद की जो है वो उसी के साथ मिला करके देखते जाओ नारद को वो हो गया तो शंकर जी ने भी उनको टाल मटोल बता दिया नारद शंकर जी चाहते तो उनके नारद के मोह को दूर करने के लिए वही उपाय कुछ करते लेकिन बस उनको समझा बुझा कर बता दिया कि देखो इस प्रकार की मोह अच्छा अच्छा नहीं है तुम इस प्रकार की बात न करो अहंकार मत करो तुम जाओ भगवान से मत बोलना ऐसे करके उनको बता दिया तो नारद को वो अच्छा नहीं लगा उनके अहंकार को उससे चोट लगी और वो अपने अहंकार को मेंटेन रखने के लिए शंकर जी के यहाँ खड़े हुए भगवान के पास पहुंचे सीधे जो उन्होंने मना किया सोई किया जाए अब देखो अहंकारी व्यक्ति को जो मना करो ही करेगा और किसी की बात को भी नहीं मानता हो ये भी होता ही तो ये सब उसके सब उनको ध्यान में रख करके देखें ताते करें कृपा ने दूरी भगवान इस अहंकार को दूर करते हैं क्योंकि दुखदायक है सब प्रकार का सूर्य पर गए और सेवक पर ममता की दूरी ही भगवान को अपने भक्त बड़े प्रिय हैं उनको उनकी बड़ी ममता है इसलिए ऐसा करते हैं भगवान इतना करेंगे इतना कठिन काम क्यों करते जैसे अब आगे उदाहरण देते हैं जैसे माता को अपने पुत्र के ऊपर बड़ी ममता होती है तब उसकी इतनी वो देखभाल उसके लिए सब कुछ कार्य करती है कैसे भगवान जो वो अपने भक्तों के ऊपर उसे बड़ी ममता है इसलिए भगवान इस प्रकार उसके अभिमान को दूर करते हैं जिन शिशु तो तन ब्रम हो ही गुसाई जैसे कि एक छोटे शिशु पुत्र के माता देखती है कि हमारे पुत्र के दल हो गया घाव हो गया है थोड़ा हो गया है तो माँ से चिराग कठिन की नाई हालांकि बच्चे का ऑपरेशन होता है तो माता को भी कष्ट होता है ये नहीं उसको कष्ट न होता उसे भी कष्ट होता है दुख होता है उसे भी माँ बच्चा रोता है तो माँ के भी आंसू आ जाते हैं उसमें लेकिन वो जानती तो ऑपरेशन करा देंगे तो सब हो जाएगा नहीं तो तकलीफ उसको बनी रहेगी तो ऐसे करके उसका ऑपरेशन कराती है माँ अपने बच्चे के थोड़े का तो जैसे वो समस्या होती है वैसे भगवान की भी होती है अपने भक्ति के साथ में जब जब सुख दुख पावई और रोवई बाले अभी जिस समय ऑपरेशन होता है उस समय बालक जो वो हो रोता है बड़ा भी होता है <clears throat> बड़ा दुख से होता है लेकिन उस समय जो है माँ जो है फिर भी उसको ऑपरेशन करवाती है और ब्याज होना चाहिए जननी जनक न सोच माँ जानती है कि इसको इतना दुख हो रहा है पीड़क रो रहा है लेकिन जानती है इसकी जाति दूर हो जाएगी स्वस्थ हो जाएगा आगे चल करके प्रसन्न रहेगा नहीं तो ये खुआ रहेगा तो ये हमेशा कष्ट ही देता रहेगा तो ये दुख देता रहेगा इससे इसकी रक्षा करो इसलिए ऑपरेशन करवाते हैं इसलिए भगवान भी इसी प्रकार से इस अभिमान का ऑपरेशन करते हैं निकालते हैं जब ऑपरेशन होता है तब भक्ति भी होता चिल्लाता है और भगवान को भी दुख लगता है कि कहाँ से हम देखो इसको जो है ये इसका दुख दूर करने के लिए इसके इस प्रकार से ये कठिन काम करना पड़ रहा है माँ की तरह से उनको भी दुख होता है लेकिन क्या करें मजबूरी की बात तो ऐसे करके करते हैं जब भी प्रथम दुख पा गई गई बाल अभी व्याज नाथ जननी जनक सोच चुकी सिम रघुपति निज दात कर हर मान हित लाल हर मान मैंने उसके अभिमान को दूर करते हैं एक लाख बन उसकी भलाई के लिए इसी प्रकार से भगवान अपने दास के अपने भक्त के के अभिमान को अहंकार को मिटाते हैं उसको इसी में उसका हित है जहाँ उसका अहंकार मिट जाएगा तो बस उसको सदा के लिए शांति विश्राम मिल जाएगी फिर उसका संसार भी निकट हो जाएगा विद्या भी नष्ट हो जाएगी मोह भी दूर हो जाएगा सर्वत्र आनंद ही आनंद की स्थिति उसको प्राप्त हो जाएगी उस स्थिति में लाने के लिए भगवान अपने भक्त का अहंकार दूर करते अब नारद की कथा तो ऐसी कि नारद तो भगवान के भक्त कहने थे और बाद में कदाचित उनको अहंकार हो गया तो भगवान ने उसको दूर किया लेकिन ये बात तो हर भक्त के साथ में होती हर भक्त में अहंकार होता भगवान के संग जब जाएगा करेगा तो फिर वो भगवान उसको देखेंगे कि अहंकार से कितना है तो पहले तो उसे अहंकार को ही दूर करेंगे तब तो उसे अपनी संग में लेंगे नहीं तो कैसे भगवान के संग में जाएगा कोई भी भक्त हो तो ऐसे तो नहीं है कि अहंकार रहित पहले से अगर अहंकार रहित पहले से हो हाँ, तब तो फिर वो आत्मज्ञानी है परमात्म ज्ञानी है जो तो सिद्ध पुरुष ही है तो उसको क्या भगवान की